विक्रांत आज सुबह सुबह ही अपने ऑफिस पहुंचा हुआ था इस वक्त वो ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के ऑफिस में ठीक उनके सामने बैठा हुआ था ब्यूरो चीफ अमृत इस वक्त विक्रांत को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे विक्रांत ने अपनी जेब से गोल्डन प्लेटेड वाला कप निकालकर अमृत के सामने टेबल पर रख दिया दरअसल ये खालिद वाला कप ही था जो विक्रांत उसकी टी शॉप से उठाकर लाया था कप को ब्यूरो चीफ के सामने रखते हुए उसने कहा सर ये देखिए ये कप आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा एंटीक है जी इसकी मार्केट में कीमत पच्चीस हजार से ऊपर है अमृत बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रहा था उसने कप पर एक नजर डाली और फिर विक्रांत से थोड़े सख्त लहजे में बोल पड़ा अच्छा तो अरे सर उस उस दिन गलती से मुझसे आपका कप टूट गया था तो ये छोटा सा तोहफा आपके लिए सर देखिए गोल्ड प्लेटेड है टोटली गोल्ड प्लेटेड विक्रांत बिल्कुल सेल्समैन की तरह अमृत के आगे इस कप की खूबियों को एक्सप्लेन कर रहा था उसने तो कप का दाम भी पंद्रह हजार बढ़ाकर बता दिया था अच्छा विक्रांत ये मक्खन लगाना बंद करो साफ साफ बोलो बात क्या है क्या काम है तुम्हें अभी तो बड़े मीठे मीठे बोल निकल रहे हैं तुम्हारे पहले क्या हुआ था क्या कह के गए थे तुम यहाँ पर याद है कुछ कि मैं याद करवाऊँ अमृता तो थोड़े सख्त लहजे में पूछा अरे सर <laughs> आप तो आप तो बुरा मान गए विक्रांत ने खीस निपोरते हुए कहा सर आप तो जानते ही हैं मंजू मैडम मेरी कितनी करीबी थी उनकी मर्डर की खबर ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था मैं किसी भी कीमत में उनके कातिल को पकड़ना चाहता था इसीलिए वो सब करना पड़ा आप समझ रहे हैं ना सर हम्म, मैं समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ तुम तभी तुम यहाँ बैठे हो वरना अब तक तो अरे मैं जानता हूँ सर जानता हूँ विक्रांत ने जवाब दिया मुझे सिटी चीफ संजय सर ने सब कुछ बताया उन्होंने ही मेरी आंखें खोल दी हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है thank you so much sir वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो सही था वो किया था समझे और तुम तुम संजय कोहली सर को पर्सनली जानते हो क्या उनसे सोर्स लगवाकर मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे अमृत विक्रांत की तरफ आंखें बड़ी करते हुए कहा अरे नहीं सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया सर मैं ऐसा आदमी हूँ जो ना तो गलत करता है और ना गलत होने देता है अगर मैं गलत हूँ तो मैं सबके सामने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखता हूँ और मैं अपनी हर गलती से सीख लेने की भी कोशिश करता हूँ और सर सबसे बड़ी बात मैं मैं कभी भी उन लोगों को नहीं भूलता जिन्होंने मेरे लिए कभी भी कुछ अच्छा किया हो इसलिए सर मैं आपको आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो आप बस मुझे इशारा कीजिएगा विक्रांत सक्सेना आपके लिए तन मन धन से खड़ा रहेगा विक्रांत को तारीफ करने के जितने शब्द मिल रहे थे उसने सब कुछ यहाँ कह डाला था साथ ही ब्यूरो चीफ अमृत साहब को भी रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये बात तो अमृत भी अच्छे से समझ रहे थे कि विक्रांत उन्हें मक्खन लगा रहा है लेकिन वो जानते थे कि विक्रांत दिल का अच्छा आदमी है सो तो उन्हें विक्रांत की इस हरकत से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी बस करो बस करो विक्रांत ठीक है ठीक है अमृत ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़ी तो बस आप एक इशारा कीजिएगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है अमृत ने कहा अच्छा सर एक बात और विक्रांत अब असली मुद्दे की बात पर आया सर अब खालिद ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है तो मैं अब फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ ना सर आपको तो पता ही है कि वो उन्नीस वाला किडनैपिंग केस उसकी इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है सर मुझे उस पर बहुत काम करना है सर हम्म, ठीक है अमृत ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे विक्रांत ये बताओ तुम आज के कमीने हो कि शुरू से ही ऐसे हो <laughs> अमृत ने जोर से हंसते हुए कहा <laughs> अरे सर क्या कह रहे हैं विक्रांत ने भी जोर से हंसते हुए कहा इसके बाद अमृत अपने सामने रखे हुए गोल्डन कप को बड़े ध्यान से देखने लगा उसे हाथों में उठाकर वो कुछ बोलने वाला था कि अचानक से गेट खोलकर उनका चपरासी भीतर आया सर वो नई टीम लीडर मैडम आई हुई हैं वो आपसे मिलना चाहती है हाँ हाँ भेजो उन्हें अंदर भेजो अमृत ने अपने चपरासी को ऑर्डर दिया इसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए उनके साथ ही विक्रांत भी उठ खड़ा हुआ चपरासी अभी भी एक हाथ से गेट को खोलकर खड़ा था और फिर लगभग पांच फीट छह इंच की हाइट वाली एक lady police officer full uniform में अंदर दाखिल हुई उसके बाल करली थे और आंखें भूरी सी और काफी बड़ी बड़ी थी उसका चेहरा देखते ही विक्रांत का तो मानो होश ही उड़ गया हो ये यहाँ कैसे यहाँ किसने भेज दिया इसको हे भगवान उस लेडी ऑफिसर ने अंदर आते ही सावधान होकर ब्यूरो चीफ अमृत को सैल्यूट किया जय हिंद sir Naina Grewal reporting sir जय हिंद आओ नैना बैठो नैना ने भी जब विक्रांत को देखा तो उसका भी मूड बिल्कुल ऑफ हो गया मनी मन वो भी सोचने लग गई हे भगवान ये कहाँ लाकर फंसा दिया कहीं और भेज देते अब इस कमीने के साथ काम करना पड़ेगा विक्रांत मीट नैना ग्रेवाल ये अभी तक पनवेल पुलिस ब्रांच की ऑफिसर थी लेकिन अब ये हमारे ब्रांच पर टीम बी की लीडर के तौर पर काम करेंगी नैना ये विक्रांत है हमारे टीम ए का होनहार ऑफिसर अमृत के कहने पर विक्रांत ने अपना हाथ नैना से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया नैना ने भी बिना मन के अपना हाथ आगे कर दिया welcome welcome myself Vikrant Saxena Vikrant ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा thank you thank you ma'am Naina Naina Agrewal good sit Naina बैठो बैठो सबके सामने के बाद अमृत ने बोलना शुरू किया नैना तुमने बहुत सही टाइम पर हमें ज्वाइन किया है हमारी टीम लीडर मंजू सचदेवा के बारे में तो तुमने सुना ही होगा उनके जाने के बाद हमें काम करने में बहुत मुश्किल आ रही थी बट अब आई होप कि तुम अमृत ने देखा कि नैना और विक्रांत लगातार एक दूसरे को ही गोरे जा रहे हैं सो उन्होंने अपनी बात बीच में ही रोक दी हेलो विक्रांत विक्रांत ये तुम्हारी नई टीम लीडर है विक्रांत बिल्कुल फॉर्मल तरीके से चेयर पर फैल के बैठा हुआ था अब तुम्हें इनके अंडर में काम करना है और नैना मैं मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन जल्द ही पूरी टीम से करवा देता हूँ तुम्हें यहाँ प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और आई हो तुम अच्छा काम करोगी yes sir yes sir I will try my best Naina ने सिर हिलाते हुए कहा इसके बाद उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत तुम नैना को ले जाकर deputy bureau chief Mitali madam से मिलवा दो वो नैना का इंट्रोडक्शन पूरी टीम से करवा देंगी और काम भी अच्छे से समझा देंगी फिर नैना अपना काम शुरू कर सकती है ओके सर ओके विक्रांत ने जवाब दिया डोंट वरी सर मैं मैनेज कर लूंगी नैना ने जवाब दिया और फिर वो उठ खड़ी हुई और ब्यूरो चीफ अमृत साहब को सैल्यूट किया इसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकल आई नैना के जाते विक्रांत को याद आया कि वो जिस काम से आया था वो तो अभी हुआ ही नहीं उसने तुरंत ही अमृत साहब की तरफ देखते हुए कहा सर अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना ओहो अब क्या मैं नोटिस लगवा दू तो मानोगे तुम्हें मना किसने किया ज्वाइन करने से किसी ने नहीं सर किसी ने नहीं मैं समझ गया विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो भी फटाफट ब्यूरो चीफ साहब को सैल्यूट करके उनके ऑफिस से बाहर निकल आया विक्रांत के बाहर जाते ही ब्यूरो चीफ अमृत साहब अपने सामने टेबल पर रखा कप अपने हाथ में उठाकर सोचने लगे ये विक्रांत को कैसे पता चला की मुझे कप के सेट बहुत पसंद है और सोने का कप लेकर आया पच्चीस हजार का हाँ क्या बात है जैसे ही अमृत ने कप हाथ में उठाया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो नॉर्मल गोल्ड प्लेटिंग वाला कप है और इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होगी तो आठ या दस हजार इससे ज्यादा नहीं